और आले फिर के एक मोमिन मर्द ने कहा जो अपना ईमान छुपाए हुए था क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है हालांकि वो तुम्हारे पास वाज निशानियां लेकर आए हैं तुम्हारे रब की तरफ से और बिलफर्ज अगर वो झूठे हैं तो उनका झूठ उन्हीं पर है और अगर वो सच्चे हैं तो वो जो तुमसे वादा कर रहे हैं उसका कुछ अजाब तुम पर जरूर पहुंचेगा बेशक अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता जो हद से बढ़ने वाला सख्त झूठा हो